परमात्मा का स्मरण समस्त बलों से युक्त और बल के देने वाले परमात्मा ओ, ओ, ओ, ओ धर्म प्रेमी सज्जनों परम पिता परमात्मा को हम विभिन्न नामों से पुकारते हैं और उन नामों को बोलते हुए परमात्मा के प्रति अपनी भावना को प्रकट करते हैं परमात्मा का जो स्वरूप हमारे मन में है उसे संबोधन में अभिव्यक्त करते हैं महर्षि दयानंद ने आर्य अभिविनय में बहुत से संबोधन परमात्मा के लिए दिए हैं प्रथम मंत्र में आए संबोधनों के क्रम में आज एक और संबोधन पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं वे लिखते हैं हे सर्व बलदायक परमात्मा सब बलों का देने वाला है सर्व बलदायक ईश्वर को स्वीकारने वाले सभी परमात्मा को सर्वशक्तिमान मानते हैं और परमात्मा हमें बल देता है ये भी स्वीकार करते हैं महर्षि ने यहां पर सर्व शब्द का प्रयोग किया परमात्मा सब बलों का देने वाला है परमात्मा किन किन बलों को देता है एक विचारणीय बिंदु है और परमात्मा किस प्रकार से बल देता है वो भी हमें समझ में रहना चाहिए आध्यात्मिक व्यक्ति परमात्मा के द्वारा दिए जा रहे आध्यात्मिक बल ज्ञान बल को प्राय स्वीकारते हैं आंतरिक बल को स्वीकार करते हैं जब परमात्मा की भक्ति करते हैं तो परमात्मा आंतरिक बल देता है लेकिन महर्षि यहां संबोधित कर रहे हैं हे सर्व बलदायक हमारे पास जितने भी बल हैं उन सब बलों को देने वाला परमात्मा है सामान्य रूप से हम बहुत सी चीजें देने वाला परमात्मा को मानते हैं विभिन्न बलों को देने वाला मानते हैं लेकिन साथ ही हम ये भी मानते रहते हैं कि ये बल मैंने प्राप्त किया है ये बल परमात्मा ने नहीं दिया ये तो मैंने प्राप्त किया है एक सीमा तक हमारा प्रयत्न रहता है लेकिन जितने भी बल हैं उनमें कोई बल ऐसा नहीं जिसे हमने ईश्वर से निरपेक्ष होकर के प्राप्त किया प्रत्येक बल में परमात्मा का सहयोग साक्षात या परंपरा से बना ही रहता है हमारे पास सबसे स्थूल बल शारीरिक बल अमान्य व्यक्ति ये सोचेगा कि मैंने खा पी करके बल प्राप्त किया है व्यायाम करके बल प्राप्त किया है औषधियों का सेवन करके बल प्राप्त किया है इतने अंश में ठीक है लेकिन जिन भी चीजों का हमने सेवन किया अन्न औषधि का उनमें बल कहां से आया था समस्त भौतिक बलों का केंद्र ये सूर्य हमारी पृथ्वी का ये सूर्य और भी अन्य लोक लोकांतरों से जो प्रकाश ऊर्जा इस धरती पर आती है वो भी उतने उतने अंश में बल के ऊर्जा के स्रोत हैं इस पृथ्वी पर समस्त पौधों में समस्त प्राणियों में जीव जंतुओं में जो भी शारीरिक बल है वो परंपरा से या परोक्ष सत्य या प्रत्यक्ष रूप में सूर्य से ही आ रहा है और विज्ञान इस बात को बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त करता है ऊपर से कितना भी हमें प्रतीत हो हमने रोटी बनाई हमने भोजन बनाया हमने चबाया लेकिन मूल बल को देने वाला उसकी व्यवस्था करने वाला परमात्मा है तो समस्त शारीरिक बल भी परमात्मा ही हमें दे रहा है एक भक्त को इन बलों को प्राप्त करके और फिर इनका उपयोग करते हुए ये भाव मन में रहना चाहिए कि बल शारीरिक बल परमात्मा के द्वारा आया हुआ है परमात्मा इसमें सहायक है शारीरिक बल से आगे हमारे इंद्रियों के बल होते हैं जानने के ज्ञानेन्द्रियों का बल उनकी सामर्थ्य वो भी जीवात्माओं के द्वारा नहीं बनाई गई वो परमात्मा के द्वारा बना करके दी गई है ये प्रकृति से बने हैं लेकिन व्यवस्था परमात्मा की की गई है आंतरिक बल मानसिक बल बुद्धि का बल ज्ञान का बल ये समस्त बल परमात्मा के द्वारा दिए गए और जिन अन्य बलों का उपयोग हम करते हैं विज्ञान के माध्यम से वायु के बल का प्रयोग विभिन्न चक्कियों को चलाने में विद्युत उत्पादन में ये बल भी परमात्मा के द्वारा दिया गया है परमात्मा की व्यवस्था से है समुद्र का बल जल का बल जितने भी बल इस भूमि पर और इस लोक में समस्त लोकों में विद्यमान है उन सब बलों की ऐसी व्यवस्था करने वाला परमात्मा है ये परमात्मा सब बलों को देने वाला है यदि परमात्मा और परमात्मा की व्यवस्था को अलग कर दिया जाए परमात्मा के सृष्टि कर्तृत्व को अलग कर दिया जाए तो मात्र प्रकृति मूल प्रकृति जो कि सूक्ष्म कर्ण रूप में है वो हमें कोई बल नहीं दे सकती और हम भी उससे कोई बल प्राप्त नहीं कर सकते और बिना प्रकृति के सहयोग के बिना परमात्मा के सहयोग के आत्मा भी कुछ नहीं कर सकता इसलिए जितना भी बल है वो सब बल परमात्मा के माध्यम से आया है परमात्मा है का दिया हुआ है इसलिए संबोधन किया हे सर्व बल दायक अनेक बार व्यक्ति जब अपने पे केंद्रित होकर के देखता है कि परमात्मा सब बलों का देने वाला है अपने में वो बहुत से बलों की न्यूनता देखता है कोई शारीरिक बल की न्यूनता देखता है कोई बौद्धिक बल की न्यूनता देखता है इंद्रियों के बल की न्यूनता देखता है इसी प्रकार से और बलों की भी न्यूनता देखता है प्रश्न उठेगा परमात्मा सब बलों का देने वाला कहां है यदि परमात्मा सर्व बल दायक होता तो हम सब में सब बल होने चाहिए थे मेरे पास सारे बल होने चाहिए थे मेरे पास सारे बल तो नहीं है और जो है तो कुछ कम है तो परमात्मा सारे बलों को देने वाला कहा है सब प्रकार के बलों को और पूर्णता से सारे बलों को और पूर्णता से जो दे उसको तो हम कह सकते हैं कि सर्व बलदायक सारा का सारा बल जितना भी है वो मुझे दे दे सब प्रकार के बल जितने भी हैं प्रत्येक बल मुझे दे दे पर अपने अंदर जब बल की न्यूनता देखता है तो उसे नहीं लगेगा कि परमात्मा सर्वबलदायक है परमात्मा के अन्य गुणों को भी ध्यान में रखते हुए उसके स्वरूप को ध्यान में रखते हुए सर्व बलदायक इस शब्द को हमें समझना चाहिए जितने भी बल हैं इस संसार में ब्रह्मांड में उन सब बलों को देने वाला परमात्मा है ये बात पूरी तरह घटेगी इतने बल जिस जिस के पास में है जिस जिस प्राणी के पास में है उन सब बलों को देने में परमात्मा सहायक है ये भी बात पूरी तरह घटेगी पर इसका ये अर्थ हमें बिल्कुल नहीं लेना है कि जितने भी प्रकार के बल हैं वो हर व्यक्ति में हों हर वस्तु में हो परमात्मा ज्ञानवान है विवेकी है वो न्यायकारी है वो यथा योग्य बलों को प्रदान करता है हर वस्तु में हर बल नहीं मिलेगा हर व्यक्ति में हर बल नहीं मिलेगा हर वस्तु में बल की पूर्णता परिपूर्णता नहीं मिलेगी और हर व्यक्ति में भी बल की हर बल की परिपूर्णता नहीं मिलेगी कर्मों के अनुसार पुरुषार्थ के अनुसार अलग अलग होता है लेकिन जितना भी बल दिया गया है वो परमात्मा के द्वारा दिया गया है जितना भी बल किसी को भी दिया है वो परमात्मा के माध्यम से मिला है इस दृष्टि से हम कह सकते हैं परमात्मा सर्व बल दायक है परमात्मा को सर्वबलदायक भिन्न अर्थ में लेते हुए यदि प्रार्थना करता रहे व्यक्ति की सारे बल परमात्मा मुझे दे देगा और नहीं मिलेंगे तो मन में विचार करेगा कि परमात्मा सर्वबलदायक नहीं है मैं बुद्धि का बल बहुत दिनों से मांग रहा हूं मेरे पास नहीं है कुछ के पास में है कुछ के पास नहीं है कितने व्यक्ति हैं जो कम बुद्धि वाले हैं मैं शारीरिक बल बहुत दिनों से मांग रहा हूं कितने व्यक्ति हैं जो शारीरिक बल से ठीक युक्त नहीं है कम बल है उनके पास में तो यूं अगर कोई देखने लगेगा तो परमात्मा को सर्वबलदायक स्वीकार नहीं कर सकेगा तो शास्त्र को विपरीत मानेगा यहां ऐसे ही लिख दिया है परमात्मा सब बलों का देने वाला है तो लेकिन जब हम इस शब्द का उचित अर्थ देखते हैं अन्य गुणों को साथ में जोड़ते हुए उस सब के परिप्रेक्ष्य में तो फिर कहीं कोई अड़चन नहीं होती कि जितना भी बल है वो परमात्मा की सहायता से आया हुआ है व्यक्ति या वस्तु उसमें जिसमें जितना बल है वो परमात्मा की सहायता से आया हुआ है और उस बल का प्रयोग भी हम परमात्मा की दी हुई व्यवस्था से कर पाते हैं बल हो लेकिन हम प्रयोग ना कर सकते हो अन्न में ऊर्जा हो लेकिन उस ऊर्जा को हम ग्रहण ना कर सकें वो प्रक्रिया हमें ना पता हो न भोजन बनाने की प्रक्रिया पता हो न खाने की प्रक्रिया पता हो और खाने के बाद भी जो अंदर गया है उससे ऊर्जा कैसे हमारे शरीर में आएगी बल हमारे शरीर में कैसे आएगा ये सब कुछ हमें ना पता हो उचित रीति ना पता हो तो बल का ऊर्जा का भंडार होते हुए भी हम उसका उपयोग नहीं लेंगे तो इन समस्त बलों को देने वाला परमात्मा है और उन बलों का उपयोग करने की सामर्थ्य देने वाला है ज्ञान देने वाला भी वो परमात्मा है और जब हमारी दृष्टि ये बनती है ये सब परमात्मा ने ही दिया है उसी की व्यवस्था से मैं उपयोग कर पा रहा हूं स्वभाव होता है परमात्मा के प्रति वो नतमस्तक होगा आज बल और ऊर्जा के देने वाले थोड़े थोड़े से व्यक्ति होते हैं कोई किसी को अस्त्र शस्त्र दे दे उससे कुछ लगता है कि बल आ गया है सामर्थ्य आ गई है ऐसी परिस्थिति में जब हमारी गाड़ी नहीं चल रही हो तेल ना होने के कारण से एकांत में पड़े हो और कोई हमें तेल दे दे और हमारी गाड़ी चल जाए हम उसके प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं हम बहुत दुर्बल हैं और किसी ने हमें कुछ खाने की चीज बता दी आप इसको खाओ तो आपको खूब ताकत आ जाएगी और हमने खाया आप ऐसा व्यायाम करो तो आप बलवान हो जाओगे और हमने किया हम उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं लेकिन चूंकि परमात्मा के बल देने को हम सदा उस तरह से मन में नहीं ला पाते हैं इसलिए उसके प्रति कृतज्ञता विनम्रता हमारी नहीं बन पाती है कम बन पाती है लेकिन अगर हम इसी प्रकार से सोचें लेकिन अगर हम ध्यान से इन बातों को देखें और समझें तो परमात्मा के प्रति हमारी कृतज्ञता बहुत बढ़ेगी और चूंकि परमात्मा ज्ञानवान है तो ये भी विचार आएगा कि परमात्मा ने ये बल क्यों दिया है हमें ये व्यवस्था उसने क्यों दी है उसका प्रयोजन क्या था उस पर ध्यान जाएगा तो हम इस बल का प्रयोग परमात्मा के विधि विधान के अनुरूप करेंगे उसके दिए बल का प्रयोग अच्छे कार्यों में करेंगे अपनी आंतरिक उन्नति में करेंगे अन्यों के हित में करेंगे जिस तरह से परमात्मा ने वेद में विधान किया है उसके अनुरूप हम इस समस्त बल का उपयोग करेंगे और जब व्यक्ति ऐसा करने लगेगा तो वो पूर्ण धार्मिक बन जाएगा अधर्म में यही तो होता है कि हम अपने बल का प्रयोग अपने सामर्थ्य का प्रयोग दूसरे की हानि के लिए कर देते हैं शक्ति सामर्थ्य है हमारे पास में लेकिन हम उसका प्रयोग दूसरे की हानि के लिए कर देते हैं और यह अधर्म हो जाता है ये पाप हो जाता है जब परमात्मा के दिए सामर्थ्य बल का प्रयोग परमात्मा के विधि के अनुसार करने का भाव मन में बन जाए तो फिर धर्म ही धर्म होगा पाप कोई कैसे करेगा दूसरे से अन्याय पूर्वक कुछ कोई चीज क्यों छीनेगा वो क्यों उसको कष्ट देगा तो ये सब बल परमात्मा का दिया हुआ है और उसने क्यों दिया है ये इतनी बड़ी कृपा क्यों की है इतनी बड़ी व्यवस्था उसने क्यों की है इतना विशाल रूप से ये बल और ऊर्जा क्यों उपलब्ध कराए हैं ये हमें वेदादि शास्त्रों के पढ़ने से ज्ञात होता है ऋषियों के ग्रंथों से ज्ञात होता है और इसको समझ के जब हम उसके अनुरूप अपना जीवन चलाते हैं इस ऊर्जा का बल का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं आजकल जो बहुत से वाहन बनते हैं ये वाहन इतने किलोमीटर चल सकता है एक लीटर डीजल से या पेट्रोल से पहले अधिक खर्चा होता था यंत्र अच्छे अच्छे बनते जाते हैं बनते जाते हैं तो कम डीजल पेट्रोल से भी अधिक दूरी तक जा सकते हैं शरीर को देखिए परमात्मा ने बल दिया है लेकिन उस बल का उपयोग किस तरह से हमारा शरीर कर सकता है बहुत कम भोजन में बहुत कम ऊर्जा में ये बहुत क्रियाएं कर सकता है ऐसी सामर्थ्य दी है छोटे छोटे पक्षी छोटे छोटे जीव जंतु कितना सा खाते हैं और उससे दिन भर कितनी क्रियाएं करते हैं हम किसी यंत्र को यूं चला करके देखें इतने बड़े शरीर जितना कोई एक पुतला बना लें उसको इधर से उधर लेकर के जाएं जैसे हम इस शरीर को अपने को लेके जाते हैं कितना शक्ति कितनी शक्ति लगेगी लेकिन हम जब अपने शरीर को लेके जाते हैं तो बहुत कम शक्ति लगती इसने बना दिया बल का उपयोग कितनी आसानी से हो सकता है कितने कम बल में कितनी क्रियाएं हो सकती हैं हम इस शरीर से जितनी भी क्रियाएं करते हैं कोई अन्य बनाई हुई वस्तु हो या अन्य कोई मनुष्य हो उससे हम वही क्रियाएं करवाएंगे तो हमें बहुत बल लगेगा कोई चल नहीं पा रहा है हम उसको चला के ले जा रहे हैं कितना बल लगता है हमें और हम स्वयं जाते हैं तो नहीं लगता ये व्यवस्था परमात्मा ने दी है बहुत कम ऊर्जा में ये शरीर चल सकता है चलता है तो परमात्मा बल का देने वाला है और उस बल का बहुत अच्छे ढंग से हम उपयोग कर सकें कम से कम ऊर्जा में अधिक से अधिक कार्य कर सकें ये भी परमात्मा ने व्यवस्था दी है और ये सब सब प्रयोजन है उस प्रयोजन को भी हम साथ में रखें परमात्मा को सर्वबलदायक स्वीकार करते हुए उसकी शक्ति को भी हम समझें उसकी सामर्थ्य को भी समझें कि यदि हम इसके विपरीत चलेंगे तो परमात्मा के ही वश में हैं हम तो उससे दूर हम कभी नहीं जा सकते इन भावों को मन में रखते हुए प्रभु का स्मरण करेंगे तीन बार ओम का उच्चारण ओ